छन्दोभ्यो य तन्त्रेभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो केवल सुनने के लिए ही मनोहर ही नहीं मेरा मन को शांति नहीं मिल रही इसलिए आपने पहले भी बता दिया किंतु मैं पुनः सुनना चाहता हूँ तो भगवान ने अपना विभूति बताते बताते बाद में बता दिया है अर्जुन ये जो सर्ग है सृष्टि उसका आदि भी मैं अंत भी मैं हूँ मध्य भी मैं ये सृष्टि देख रहे मेरे से अतिरिक्त नहीं है मेरा ही स्वरूप है और इस सृष्टि में अनेक प्रकार की विद्या है चाहे तो लौकिक विद्या हो वैदिक विद्या हो और वैदिक में भी अपर विद्या है उनमें सबसे श्रेष्ठ यदि विद्या है अध्यात्म विद्या है और वही बला विद्या है वही ब्रह्म विद्या भी है और उसको नब्बे अध्याय में राज विद्या भी कहा गया इन विद्या में वो विद्या मेरा स्वरूप है क्योंकि केन उपनिषद में भी आया है उमाम हैमावती देवताओं को वहां अभिमान हुआ था असुरों के ऊपर विजय पा लिया था जिसके सामर्थ्य से जिसके शक्ति से विजय पा लिया था उसको भूल गए केवल देवता ने हम लोग भी वही करते अंदर एक तत्व है उस तत्व के द्वारा ही हम सब कुछ कर रहे हैं उसके सत्ता से वो है तभी हम सब कार्य कर रहे हैं किंतु उसको हम भूल जाते हैं कार्य को प्रदान करते हैं वैसे ही देवता ने उसको भूल दिया तो भगवान ने सोचा देवतों को भी अभिमान आया उसको अभिमान चूर करने के लिए व्यक्ष रूप से प्रकट हो गए तो विलक्षण जो यक्ष है इसलिए वहां बता यक्ष स्वरूप जटाधराय पंचाक्षर में बता दिया पहले अग्नि देवता गए अग्नि को भी अभिमान था जातवेद मैं जातवेद हूँ सबको बस कर अच्छा, यक्ष में चिंता लगा तिनका भी नहीं जला सकता उसके बाद वायु गया वायु से भी नहीं हुआ तो बाद में इंद्र गए इंद्र जाते हुए वो यक्ष अदृश्य हो गए किंतु इंद्र बुद्धि मानते वही विचार करने लगा ये कौन है यक्ष जिसका पार अग्नि और वायु भी पार नहीं पहुंचा कौन है विचार करते करते वही एक सुंदर स्त्री है ब्रह्म विद्या से प्रकट होती उमाम हैमावती करके वो भगवान की शक्ति मानी जाती है उसके द्वारा ही जाना जाता है देखिए साधन चतुष्टय हो गया साधन चतुष्टय है ना सबसे पहले कौन है विवेक है ना विवेक का प्रतीक है भगवान गणेश जी और उसके बाद वैराग्य वैराग्य का प्रतीक है नंदीश्वर भगवान और उसके बाद शर संपत्ति शर संपत्ति है षणमुख कार्तिक भगवान छ मुख है उसके बाद मुमुक्षता और जिज्ञासा ये एक उमा माना है तभी जाके ये शंकर को प्राप्त किया जाता ये शंकर के चार परिवार माने विवेक वैराग्य अक्षर संपत्ति मुमुक्षुता ये गिरिजा को ही मुमुक्षुता मानी तो इसलिए बता रहे विद्या में मैं ब्रह्म विद्या हूँ आध्यात्म विद्या और वाद विवाद मतलब शास्त्रार्थ तो ऐसे जो वाद विवाद है उसमें तीन प्रकार की कथा कर बताया था जल्प है वाद है और वितंड है अपना पक्ष सिद्ध करके दूसरे पक्ष को निरस्त करना ये जल्प कथा है और तत्व को मुक्ष करता तत्व को जानने के लिए जो वाद विवाद होता उसको वाद कथा कहते और अब अपना बख्शा स्थापना के बिना दूसरे को जो खंडा नहीं किया जाता है ये भी दंड कहा जाता है इसलिए मैं वाद करता यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था आगे के तेईसवें जो श्लोक में भगवान बता रहे अक्षराणाम अकारोस्मी अक्षर का मतलब है वर्ण लेना पीछे भी एक बार बताया ग्राम जितने भी वचन है शब्द में एक अक्षर बताया था वहां ओंकार लिया था और यहाँ जो अक्षर का मतलब वर्णों में एवं व्याकरण के अनुसार चौदह सूत्र माना है उन वर्णों में मैं आकार हूं जो प्रथम वर्ण है अकार क्योंकि अकार के बिना वर्णों की उच्चारण नहीं होता है इसलिए मैं अकार द्वंद्व और अकार इसलिए है अकार व्यापक है जागृत में अकार मानते हैं स्वप्न में उकार है सुषुप्ति में मकार है ओंकार की तो इसलिए बोल रहे हैं अक्षराणाम अकारोष द्वंद्वा सामाजिक व्याकरण में एक समास होता है संधि है समास समास का मतलब है दो पदों को मिलाकर एक पद बनाना समाज के द्वारा हम अर्थ कुछ भी कर सकते हैं समाज से अर्थ बदल जाता है जैसा मान लीजिए एक बार कोई एक विष्णु भक्त वैरागी था एक शिव भक्त था शैव रामेश्वर में गए तो अभी विचार किया रामेश्वर का क्या अर्थ है उन्होंने विद्वान थे तो उन्होंने कहा शैव शिव की उपासक है शिव के उपासक शिव जी को बड़े मानते हैं तो रामश्च ईश्वरा श्रेष्ठी समाज के रामश्य ईश्वर हो तो राम का ईश्वर तो राम का ईश्वर हो तो बड़ा कौन है राम बड़ा हो गया तो वैरागी ने कहा नहीं ये गलत बात है राम किससे छोटा होगा राम ईश्वर यश राम है ईश्वर जिसका शंकर इसे राम बना है बहुरी समाज किया जैसे नीला कंठ यश नीलकंठ नील एक कंड जिसका भगवान शंकर देव अन्य मन तो उन्होंने कहा राम ईश्वर यश तो दोनों में शुरू हो गए तो उतने में वेदांति पहुंच गए अरे तुम लोग क्या झगड़ा करते हो रामस्य ईश्वर से कर्मधारा क्या जो राम है वही ईश्वर है जो ईश्वर है वही राम है मेरे एक ही शब्द में तीन समास हो सृष्टि समाज भी हो गया भौतिक समाज भी हो गया कर्मधार है वैसे ही एक द्वंद्व समास है द्वंद्व मतलब हरिश्च गुरुश्च हरि गुरु ईश्वर उनमें दोनों पद तीनों पद प्रदान होते इसलिए भगवान बता रहे पांच प्रकार के समास हैं व्याकरण उनमें द्वंद्व समास में देश राम लक्ष्मणों जगता पितरो बंदे देखिए वहाँ पितरो प्रयोग कर रहे हैं पितरोश्च पितश्च पितरो तो सामासिक शब्द तो समास में नहीं द्वंद्व समास अहमेव अक्षया कालो धाता हम विश्व और मैं कैसा हूँ अहमेवा अक्षय काल मैं अक्षय मतलब दो प्रकार का काल है एक क्षय होने वाला काल और एक अक्षय रूप काल ये जो काल है वर्तमान काल है भविष्य काल हम बोलते हैं लेकिन विचार करने पर काल तीन नहीं है हम बोलते हैं ना काल है वर्तमान है भविष्य शास्त्र में विचार किया तीन नहीं एक ही जो बीता हुआ वर्तमान है उसको भूत कहा दिया आने वाला वर्तमान है उसको भविष्य कहा इसलिए वर्तमान को सुधारना चाहिए तो ये जो काल है नष्ट होने वाला है और उस काल का भी काल है महाकाल है काल को भी जो कवलित करता है काल को भी जो ग्रास बना देता है वो काल है अक्षय का अभी देखिए काल है दिशा है वेदांत में इनकी उत्पत्ति तो बताए नहीं पांच भूतों की उत्पत्ति बताए ना आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी काल और दिशा को बताएंगे उसको कहाँ अंतर्भूत करेंगे काल और दिशा को तो इसलिए वहाँ मधुसूदन सरस्वती ने कहा दिया है सिद्धांत में काल है माया के अंतर्भूत हो जाएगा दिशा है आकाश के अंतर्गत हो जाएगा अलग नहीं दिशा को आकाश के अंतर्गत किया और काल को माया के अंतर्गत तो बता रहे हैं अक्षय काल है अक्षय मतलब कभी क्षय होने वाला नहीं है ऐसा काल और धाता हम धाता का मतलब अक्षय काल रूप से काल का भी काल परमेश्वर है विधाता धाता का मतलब विधाता सारा जगत को धारण मई करता हूँ इसलिए उस काल को भी मैं धारण करता बृहदारण्य में भी आया है कालों का भी काल है विश्व तो मुखा विश्व तो मुखा मतलब सर्वतोमुखा सर्वोर मुख वाला है ग्यारहवें अध्याय में बताएंगे सर्वोर मुख कैसा होगा भगवान के ये जो हमारे मुख है औपाधिक उपाधि के द्वारा तो हमारे अंदर में है कौन तत्व वही तत्व है इसलिए सारे जो मुख है भगवान के परमात्मा के इसलिए विश्व में होगा आगे बता रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्च अहम सर्वहरश्च सर्वहर यहाँ सर्व विशेषण लगा दिया है दो प्रकार का हरण होता है भाष्यकार ने कहा द्विविधो हरा एक तो धन को हरण करने वाला एक को प्राण को हरण करने वाला धन को हरण करने वाला होता है लुटेरा चोर प्राण को हरण करने वाला कौन है यमराज किंतु भगवान क्या है सर्वहरा धन आदि का और प्राण आदि सबको हरण करता इसलिए सबको हरण करने वाला मृत्युमय हूँ इसलिए पता है धन प्राण ये जितने भी हैं सबको हरण करने वाला सर्वहर मृत्युमय तो मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यता भविष्य में भविष्य काल में जिनका कल्याण होने वाला है या उद्भव मतलब उत्कर्ष लेना कल्याण लेना अर्थात भविष्य काल में उनका कल्याण होने वाला है अर्थात उत्कर्षता प्राप्ति का योग्य है वो लोग उत्कर्ष कौन है मई जैसे देखिए संसार में कभी कभी कोई व्यक्ति इतना गरीब रहता है पता ही नहीं रहता है अथवा बहुत भयमुख रहता है एक एक ऐसा पलट मान जाता है इतना बड़ा साधन बन जाता है ऐसा देखा जाता है इतना जो बहिर्मुख चंचलता व्यक्ति है एक एक पलट मान जाता है काशी में भी एक महात्मा थे छोटे मान इतने चंचल थे इतने ही चंचल मेरे पास भी पढ़ते थे बाद में मन में आया पता नहीं साधना बारह साल में कहने का तात्पर्य भगवान बता रहे हैं आगे होने वाली जो उत्कर्षता है श्रेष्ठता है कल्याण उसका कारण हम मनुष्य हो रहे हैं और भविष्य और स्त्री जाति में विशेषता है अथवा स्त्रीवाचक शब्द लीजिए अथवा देवतों की स्त्रियां माना जाती है उनमें कौन की स्त्री वाच नारी नाम स्मृति मेधा स्मृति क्षमा ये सात हो गए कीर्ति एक स्त्री दो वाक तीन स्मृति मेधा धृति क्षमा स्त्रियों में श्रेष्ठ माना है कौन कौन है कीर्ति और श्री वाणी स्मृति बुद्धि और धृति और क्षमा ये उत्तम श्रेय माना है देवता सम्मान है देवता जलाने वाले अथवा व्याकरण के अनुसार स्त्रीलिंग वाचक शब्द एक पुल्लिंग वाचक होते हैं एक श्रीलिंग वाचक तो श्रीलिंग वाचक जितने भी शब्द में ये सात शब्द श्रेष्ठ है एक अर्थ अथवा ये देवतों की श्रेया मानी ये सारी बेटी विभूति है भगवान ने उसके बाद आगे बता रहे देखिए बृहत साम तथा सामना तथा तो उसी प्रकार है अर्जुन सामना बोलो तो सामवेद सामवेद में अलग अलग प्रकार के साम का वर्णन है छांदोग्य में आया है रतांतर साम है राजन्य साम है पाशव्य साम है अलग अलग शाम का वर्णन किया और उनको भी पुनः दो भाग में किया पांच भक्तिक शाम और एक सात भक्तिक शाम पांच बोलो तो पांच अवयव है जिस शाम में भक्ति बोलो तो अवयव सात अवयव है जिस शाम में उसको बोलते सात भक्तिक शाम छांदोग्य में आया तो अलग अलग प्रकार के जो साम है साम साम वेद में आने वाले विशेष विशेष प्रकार उनमें बृहत सामा तो बृहत सामा नाम का एक साम है वो मेरा स्वरूप है यज्ञादि में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है बृहत साम सेतु साम है सेतु साम के द्वारा जितने भी जो प्रतिबंधक है उसको हटाने के लिए दान किया जाता है एक पवमान स्त्रोत्र है पवित्र करने के लिए उसको दान किया जाता है तो इस प्रकार अनेक जो शाम है उनमें प्रदान शाम है बृहद शाम बृहद शाम नाम का शाम है और चंद शाम गायत्री अहम छंद मतलब है श्लोकबद्ध तो जो बोला जाता है उसको छंद कहते एक पिंगलाचार्य हो गए उसके पिंगल का छंदो मंजरे ग्रंथ जैसा हम गीता में करते हैं उसमें चार पाद है पूर्वार्ध में दो पाद उत्तरार्ध में दो पाद एक एक पाद में आठ आठ अक्षर है प्रथम पाद में आठ अक्षर दूसरे पाद में आठ अक्षर तीसरे में आठ चौथे में आठ पूरा कितना हो गया बत्तीस ये अनुष्टुप चंद है इसको कहते हैं अनुष्टुप चंद ऐसा गायत्री है महिमना बोलते हैं हम लोग छः ग्यारह छः ग्यारह मतलब पहले छः अक्षर दूसरे में ग्यारह अक्षर ये है शिकरणी चंद गाते महिमा है शिकरणी चंद तो ये अनेक प्रकार के जो छंद हैं उन छंदों में गायत्री छंद में गायत्री में जो है आठ आठ अक्षर वाला तीन बाल है ओम पूर्व स्वाहा सवितुण्य करके तो आठ आठ अक्षर वाले तीन बाल है गायत्री बोलते हैं गायत्री का जप करते हम बोलते हैं ना गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र नहीं है मंत्र है सावित्री मंत्र है बोलते हैं गायत्री का जप करो गायत्री का अनुष्ठान करो बोलते हैं किंतु गायत्री कोई मंत्र नहीं है तो मंत्र कौन है सावित्री सावित्री मतलब सूर्य संबंधी मंत्र है सूर्य संबंधी मंत्र होने से उसको सावित्री मंत्र कहा और उस मंत्र का छंद है गायत्री इसलिए उसको गायत्री मंत्र कहा तो गायत्री मंत्र को कहते हैं सावित्री मंत्र का ही नाम गायत्री मंत्र का चौबीस अक्षर है गायत्री छंद का वो सूर्य संबंधी मंत्र है सावित्री मंत्र तो इसलिए छंद का नाम पढ़ते हैं कभी कभी व्यक्ति का नाम ग्रंथ में पड़ता है कभी कभी ग्रंथ का नाम व्यक्ति में आता है जैसा अभी बदल में चिस्सुकी कहा गया चिस्सुकी कोई ग्रंथ नहीं है उसका नाम है प्रत्येक तत्वभूत बड़ा प्रस्थान है ना जैसे ये चलता है लघु प्रस्थान गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र तो बृहस्थ प्रस्ताव में कहते हैं चिश्रुटी अद्वैत सिद्धि खंडन चिश्रुटी कोई ग्रंथ नहीं उसका नाम है प्रत्येक तत्व उस आचार्य का नाम है का आचार्य है वो ग्रंथ जिसने लिखा है तो इसलिए उस ग्रंथ का भी नाम क्या होगा आचार्य का नाम करते हैं और विवरण आचार्य कहते हैं विवरण करने शंकर विवरण आचार्य उस आचार्य का नाम विवरण आचार्य नहीं है उसका नाम है प्रकाशात्मक मुनि प्रकाशात्मक मुनि ने विवरण नाम का ग्रंथ लिखा गायत्री ಗಾಯತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ गायत्री नहीं बोले भगवान यदि गायत्री मंत्र बोले तो मैं मंत्रों में गायत्री करना चाहिए मंत्र नहीं छंद है छंद साम हरियाली भर करते चारों तरफ से इसलिए उसी समय में कोयल भी ज़्यादा कूदता है तो इसलिए ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु आगे बता रहे यहाँ तक भगवान ने बता दिया और भी बता रहे जूतम चलयतामस्में जो जुआ खेलते छल करने वाले में पासों में पासा खेलते पहले राजा लोग खेलते थे उसमें चार पासा रहते हैं एक है त्रेता नाम का कृता नाम का पासा होता है उसका चार अंक होता है त्रेता नाम का पास का तीन अंक होता है और द्वापर नाम का पासा है दो अंक कलयुग का एक अंक तो पूरा मिलाकर के वो दस अंक होता है चार तीन दो एक दस अंक तो उसमें आप कृता नाम का सत्य नाम का पास को जीत गए तो अन्य सात अंक चार छः अंक अपने आप आ जाएगा तो इसलिए हम बता रहे हैं जूतम बोल तो जो युवा है तो उसमें खेलने वाले नहीं चले काम अस्थित जूतम में छल कपट भी होता है ऐसे भी देंगे नहीं तो छल करने वाले में जो वासों में मैं जूत हूँ अतः जूत नाम का खेल छल करने वाला वासों शगुनी जो खेल क्रीड़ा और तेज तेजस्वी नाम जितने भी बड़े तेजस्वी हैं तपस्या करके जिसके अंदर तेज प्राप्त हुआ है वो तेज किसका है परमात्मा का है साधना करते करते उन तेजस्वी के अंदर एक तेज आ गया दो तो प्रकार का पेट तेज होता है एक ट्विट कांति एक ब्रह्म कांति ट्विट कांति वो तो चमड़े के बाहर की सुंदरता था वो तो सामान्य व्यक्ति में भी रहेगी बढ़िया भोजन करता है खान पान अच्छा है उनका शरीर में भी कांति रहती ब्रह्म का अर्थ ही अलग है इसलिए यहां बता रहे हैं साधन अत्यधिक रजोगुण होने से वो सोएगा नहीं घूमते रहेगा रात्रि भर कुछ करते रहेगा अत्यधिक सत्वगुण होने से भी आप सोएंगे या तो शास्त्र चिंतन करेंगे या ध्यानस्थ हो जाएंगे तो तमोगुणी वाला व्यक्ति सो जाता है वहाँ आयुर्वेद शास्त्र में बता दिया कैसा निद्रा करता है करके जो हमारे लोग हृदय कमल है उस जागृत में खिल जाता अधोमुख है जैसा जैसा सोता है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है कभी वात प्रदान होकर कभी पित्त प्रदान होकर कभी कव प्रदान होकर कौन भक्त ने वहाँ वर्णन किया तो इसलिए हम बता रहे हैं सत्व बदाम सत्व का भी दो भाग्य है भगवान भाष्यकार ने वेद चूड़ामणि जहाँ बिल्कुल शुद्ध सत्ता हो जाता है एकदम शुद्ध सत्ता तभी उसको ब्रह्माकार प्रतिबंधी है ब्रह्म तत्व को धारण करता है तब तक नहीं धारण कर सकता है और मिश्रित सत्ता होता है तभी उसके अंदर गीता में आप लोगों ने सुना है सातवें श्लोक से तेरह में अमानितम अरवितम अहिंसा क्षातिरात्मा आचार्यों शौचम बीस साधन मिश्र शुद्ध शुद्ध सत्व होने से वो ब्रह्माकार वृत्ति को धारण करता है ऐसा माना है इसलिए जो सत्व गुण वाले महापुरुष हैं उनका सत्व चांदोग्य उपनिषद में भी बता दिया है सातवें अध्याय में सनत कुमार जी नारद जी को भूम तत्व को बलिश करते हैं तरल शोकम आत्माविद करके कई दिन नारद जी सारे विद्या के ज्ञाता होने पर भी शोक से निवृत्त नहीं होते गीता भी प्रारंभ क्यों होता शोक के कारण अर्जुन को भी शोक हुआ था नारद जी को भी शोक किंतु तो अर्जुन का शोक और ना उस उमर तत्व का अनुभव वही कर सकता है जिसका अर्थात अंतकरण शुद्ध हो तो नारायण के मन में जिज्ञासा हो गया अंतकरण शुद्ध कैसा होगा तो बोले आह कर रहे आहार है आहार भी ये आंख के द्वारा हम गुरु को आहरण कर रहे हैं ये भी आहार है कान के द्वारा शब्द को आहरण कर रहे हैं ये भी आहार है ये सबको शुद्ध करना चाहिए कैसे शुद्ध करें श्रुति में एक वाक्य आता है दृष्टि ज्ञानामय कृत्वा पश्ये ब्रह्ममय दृष्टि है उसको में कर दीजिए विषय में मत कर दीजिए सारा जगत में पश्चे ब्रह्ममय ब्रह्म कहानी सर्वत्र है अस्थि भारतीय से सर्वत्र है किंतु हमारी दृष्टि है विषयों से दूषित हो गई कलुषित हो गई मलिन हो गई तो मलिन दृष्टि से हम जैसा देखेंगे वैसे ही मान लीजिए हम चश्मा पहन लिया लाल जितने भी बैठे लाल दिखेंगे काली चश्मा लगाए तो काले निकालेंगे किंतु तो शुद्ध है ये सब चश्मा लगाया तो बढ़िया लगेगा वैसा ही काली का मतलब तमो तमो से युक्त हमारी दृष्टि हो गई तो जगत भी तामसिक लाल का मतलब है रजोगुण रजोगुण से युक्त है तो ऐसे और शुद्ध का मतलब सब इसलिए दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चे ब्रह्ममय तो इसलिए आहार शुद्ध हमारा व्यवहार आहार दृष्टि शुद्ध होना चाहिए तो शुद्ध होने से सत्वगुण बढ़ता है ऐसे गुण सत्वगुण होने से परमात्मा को प्राप्त इसी को यहाँ संकीर्तन सत्वता जो सत्व गुण है सात्विक उनका सत्व नहीं मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं मेरा ही उसके बाद आगे बता रहे भगवान सैंतीस में वृष्णे नाम वासुदेव जो वृष्णि वंश है यदुवंश में एक वृष्णि वंश है भगवान श्री कृष्ण गुरु अंधका वृष्णि आदि अलग अलग वंश मान माने ऐसे गुरु वृष्णि वंश में आपका मित्र भगवान कृष्णमय वसुदेव का पुत्र वासुदेव तो वसुदेव का पुत्र आपका मित्र वृष्णि वंश और पांडवा नाम धनंजय पांडवों में अर्जुन भी मैं परमात्मा खड़े मतलब देखिए गीता का उपदेश किसने किया हाँ? कृष्ण ने किसको उपदेश किया स्वयं को अपने को बोले ना अर्जुन नहीं भगवान ने भगवान को उपदेश किया और गीता का संकलन किसने किया भगवान वेद व्यास भी तो भगवान ने ही भगवान को सुनाया और भगवान ने ही शंकर कोई अलग नहीं व्यास भी वही इसलिए बोले पांडवा नाम पांडुपुत्र में लेकिन पांडव शब्द सभी में प्रयोग होता है पांडु के जो पुत्र है पांडव है उनमें कौन है धनंजय तो धनंजय का मतलब अर्जुन का दस नाम एक धनंजय जिस समय में राजस्व यज्ञ में थे चारों दिशा में गए थे सबसे ज्यादा धन अर्जुन ने लाया था तो अत्यधिक धन लाने से उसका नाम है धनंजय पड़ा था अर्जुन का ऐसे को तो धनंजय मई मुनि नाम अभी अहम व्यास देखिए व्यास भी मई हूँ दर्शन करते हैं निरंतर ऐसे मनन तीनों ज्ञान रख ज्ञानवान इतना बताने के बाद अर्जुन को बता रहे अर्जुन मेरी विभूति है उसका कोई अंत नहीं तो भी सर्वभूता जो कुछ है सर्वभूता बीजम तद आम अधिक क्या कहें सारे प्राणियों का बीज का मतलब उत्पत्ति का कारण ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबसे बड़ा यदि जीव है ब्रह्मा ब्रह्मानंद सबसे छोटा यदि जीव है स्तंभ है तो चौरासी लाख योनि में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जो भी प्राणी है उनका उत्पत्ति का कारण वहां अधिक क्या कहे सर्वभूता नाम बीजम तो उत्पत्ति का कारण तद अहम अर्जुन वो मई न तदस्ति विना मया भूतम चराचर मया बिना मेरे बिना मेरे अतिरिक्त इस चराचर जगत में कोई भी अस्तित्व नहीं जगत में यदि कोई अस्तित्व है मेरे द्वारा जैसा पद का अस्तित्व है धागे के कारण मिट्टी के अस्तित्व के द्वारा ही घट के अस्तित्व है घट में कोई अलग अस्तित्व नहीं हम व्यवहार को करते हैं घट करके किंतु आप दिखा नहीं सकते व्यवहार करते हैं शरीर है करते शरीर थोड़ा सा निकाल दीजिए आप नहीं निकाल सकते लेकिन ये हाथ हो गया ये निकल तो नाक हो जाएगा ये निकल तो कान हो गए कहाँ शरीर किंतु ये जो ऊर्जा है अंग इनको मिला करके हम एक नामकरण किया है वाचारमणा विकार नाम अलेया का मृत्यु व्यवहार के लिए शास्त्र और महापुरुष ने एक नामकरण उसी को लेकर योग सूत्र में कहा गया शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य शब्द तो प्रयोग करते वस्तु नहीं घर प्रयोग करते दिखाएं तो बैठे शरीर व्यवहार करते दिखाएं तो कोई ना हाथ पैर हो जाएंगे इसलिए बता रहे हैं मेरे बिना संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है मेरे अस्तित्व के बिना सभी में मैं व्याप्त शत्रु दो प्रकार के एक बाह्य शत्रु एक आभ्यंतर शत्रु बाह्य शत्रु से तो हम बच सकते चलो वहां से छोटे दूसरे जगह गए किंतु अंदर के शत्रु से कहा जाएंगे वहां से नहीं बच सकते अर्जुन ने दोनों प्रकार के शत्रु को दबा दिया है इतना बलवान है बाह्य शत्रु है और भगवान का वो मित्र भी है शिष्य भी है इंद्र का पुत्र भी है इसलिए आंतरिक शत्रु भी है उसके अंदर इसलिए शत्रु रहित है अर्जुन परंतमा समूह मम दिव्याना विभूति नाम ये विभूति का विशेषण है कौन सी विभूति दिव्याना विभूति जो दिव्य विभूति है अलौकिक विभूति विलक्षण विभूति विभूति का मतलब विस्तार व्यापकता अथवा भगवान की महिमा कोई भी आदमी ऐसी जो मेरी महिमा है मेरी व्यापकता है मेरी विभूति है दिव्याना नाम तो स्थिति हे अर्जुन इसका कोई अंत नहीं अभी तक इसका अंत कोई पार पहुंचा नहीं मेरे से મેને આપકો જો બતા રહા હું એષા કુ ઉદ્દેશતા રૂપ વિઘૂતિ વિસ્તાર રૂમાયા માયા વિસ્તાર વિઘૂતિ سارے બ્રહ્માંડ મે વેગૂતિ ભૈલે વિસ્તાર હોવાગા એ વિસ્તાર પુરવત ભૈલે ભી વિઘૂતિ કુ ઉદ્દેશતા ઉદ્દેશતા મત સંશીપના શોર્ટ કટ કરી સંશીપ સે મેં આપકો नहीं तो बताते बताते तेरा जन्म भी समाप्त होगा कितना जन्म होने पर भी आप विभूति सुनते आएंगे इसलिए बोलते हैं तो विस्तार मया विभूति विस्तार वहां से लीजिए मेरी ये विस्तार विभूति है उसका वर्णन कोई कर नहीं सकते तो भी ऐसा ऐसे बोलते यहाँ से अभी तक यहाँ सुना है ना उनतीस उनतालीस तक भगवान ने उनतालीस तक गुरु भी बता दिया अथवा सातवें अध्याय में कुछ बता दिया नब्बे अध्याय में ये तो मुख्य मुख्य पॉइंट वाइज बता दिया ये मतलब ये गुरु थी तू उद्देश्यता तो उद्देश्य का मतलब संक्षेप सार वर्ग बता दिया विस्तार पर्याप्त नहीं है और उसका भी सार नहीं बता रहा सार का भी सार व्यापक विभूति का निशान बता दिया और उस सार का निशान सुनो बता रहे इकतालीस श्लोक में यद विभूति मत्सत्व यद मतलब जो जो संसार में इस ब्रह्मांड में जो जो पदार्थ विभूतिमान अर्थात विभूति युक्त जिसमें कोई विलक्षणता आप देख रहे कोई उसमें विशेषता ले करें हम संसार में तो ये बोले यद यद श्रीमद श्रीमदूजितम तथा श्रीमान भी कोई धनवान देख करें आप श्रीमान को धनवान दोनों से लेना विद्या धन अथवा बाह्य धन तो श्रीमद ऊर्जितम एक श्रीमद और ऊर्जा मतलब शक्ति किसी किसी में इतनी शक्ति होती है इतना वजन भी उठा सकता है और एक ही मुख्य जैसा दिन में लेके इतना बढ़ता हजार बार हजार हाथियों का मत ऊर्जा मतलब शक्तिमान तो यहाँ श्रीमद एक श्रीमद हो गया ऊर्जित में श्रीमान हो अथवा शक्तिमान हो अथवा स्त्री हो लक्ष्मी जहाँ जहाँ देखा जाता है जिनके पास श्रीमान हो श्रेष्ठता हो अथवा अत्यंत शक्तिमान हो अथवा लक्ष्मीवान हो जहाँ जहाँ देखा जाए अत्यंत बोलता तत्तदेव अवगछा उन उनको चाहे तो श्रीमान हो शक्तिमान हो अथवा लक्ष्मीमान उन्म अवगच्छ अवगच्छ तो जानो तुम तू जान क्या जानो मम तेजो अंश संभव हे अर्जुन मेरा जो तेज है तेज का मतलब है शक्ति तेज कोई अलग नहीं लेना क्योंकि भगवान की एक शक्ति है उसको बोलते वैष्णवी माया कहते हैं अथवा योग माया कहते और उसमें तेज क्यों कहा गया यदि भगवान का तेज कहा गया हम लोग सोचते अग्नि का जैसे कोई तेज होगा करके भगवान को कोई तेज अलग नहीं है तो भगवान में रहने वाली जो माया शक्ति है उसका सत्व उसको तेज कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार तेज है प्रकाशक है सत्वगुण भी प्रकाशक है रजोगुण और तमोगुण प्रकाशक नहीं माना जाता है जहाँ सत्वगुण होता है वही प्रकाशक आता है तो इसलिए तेज का मतलब है भगवान की जो माया शक्ति है उसमें रहने वाला सत्वगुण का कार्य है क्या तो संसार में जहाँ जहाँ दुर्धरिमान है शक्तिमान है अथवा लक्ष्मी आदि से उद्भूति देखी जाती तो तत्तदेव अवगछा तो उसी उसी को आप समझो क्या समझो ममा तेजो अंश मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुए ऐसा समझो अर्जुन सारे विभूति में उसके बाद इस अध्याय को समाप्त कर अर्जुन के मन में शंका भी हो सकती है जिज्ञासा उस जिज्ञासा का उत्तर भी दे रहे हैं यद्यपि हम जिज्ञासा दिखाया नहीं है हो सकती है क्या जिज्ञासा भगवान ये सारे विभूति आपकी है क्या आपका पूरे स्वरूप की भी मुक्ति है अथवा एक अंश की है आत्मा को चार बार माना है ना अयम आत्मा चतुष्पाद भगवान के भी चार बार माना है सूर्यों में पाद का मतलब पादा एवं पादा वास्तव में प्रयोग नहीं है भेद किया है कई आपके चारों पादों की भी मूर्ति है अथवा एक पाद की ये जिज्ञासा अर्जुन के मन में हमारे मन में उसका भी समाधान है और अपना विभूति का उपसंहार भी दोनों के लिए अंतिम श्लोक बहुना ये देन जाते न हे अर्जुन बहुना अधिक ये देना जाते बता दिया आपको सारे विरोध को जानने से क्या होगा जानते जाते आप स्वयं थक जाएंगे भूल भी जाएंगे तो ये देना जान देना बहुना ये देना जान देना क्यों इस प्रकार बहुत से वर्णन करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा लेकिन किसी का वर्णन करते हैं हम लोग इसको प्रतिपादन करते हैं कोई प्रयोजन होना चाहिए नहीं तो होदा पहाड़ मिले चूहिया क्या प्रयोजन है तो इसलिए क्या प्रयोजन है सुनो विष्टम्या अहम इदम कृष्णम इदम कृष्णम कृष्ण बोलता संपूर्ण अब कृष्णम कहते हैं अपूर्ण कृष्णम कहते हैं पूर्णता संपूर्ण इदम कृष्णम इदम मतलब सारा ब्रह्मांड सारा जगत इन सारा जगत को एकांशेन एकांशेन मतलब मेरा एक पाद के द्वारा चार पाद के द्वारा पाद का मतलब पाद के जैसा पाद एक शेर बोलते एक शेर में कितना चार पहिया होते जैसे एक बनी चार चौबनी वैसे ही पादा इव पादा उसमें एक पाद के द्वारा इस सारा जगत को विष्टव्य मतलब विशेषता स्तंभाना सारा जगत को विशेष रूप से मैंने धारण किया जैसा मान लीजिए कोई विशाल एक पट है उसमें एक अंश में कोई चित्र बना दिया बाकी तीन अंश पट क्या है खाली वैसे ही ब्रह्म रूप पट है आत्मा रूप पट है परमात्मा रूप पट में एक अंश में सारा एक जगत रूप चित्र है और एक चित्र है उस पट में उस चित्र का आश्रय कौन बनेगा पट ही नहीं पट ही धारण करता है तो कहने का तात्पर्य चित्र आदि सारा उसमें अध्यस्त है परमात्मा की पूर्ण संपूर्ण में अध्यस्त नहीं एक अंश में अध्यस्त जगत ये बता रहे विष्टव्य का मतलब है विशेष रूप से सारा जगत को मैंने धारण किया एक अंश का और धारण करके ये जगत मुझे में स्थित है ये मेरे अंतिम निर्णय है तो यहाँ तक भगवान की जो विभूत योग हो गया उसके बाद जो पूर्व अध्याय में अर्थात दसवें अध्याय भगवान की विभूतियों का वर्णन